दो भाय कलोके चले कृपालु रघुराय सेन सहित उतरे रघु जाय कपि न भीरा सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा सकल कपिन कहूँ आय सुदीना खाहु जाए फल मूल सुहाए सुनत भालु कपि जह तह धाये कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले श्री रघुवीर सेना से समुद्र के पार हो गए वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े सब तरु फरे राम हित लागे ऋतु अरु कुरितु काल गति जागी खाहि मधुर फल बिटप हलावहि लंका सन्मुख शिखर चलावहि जह कहुँ फिरत निसाचर पावहि घेरि सकल बहु नाच न चावहि निकाटि नासिका काना कही प्रभु सुजसु दे तब जाना श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुरुतु समय की गति को छोड़कर फल उठे बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं जिन करना सा कान निपाता तिन्ह रावण ही कहे सब बाता सुनत श्रवण सुनतश्रवण दशमुख बोलि उठाय कुला बान्धो बननिधि निरनिधि जलधि सिन्धु बारिस सत्यतोयनिधि कम्पती देश जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया निज विकलता विचार बहोरी बिहस गयऊ गृह करी भय भोरी मंदोदरी सुनो प्रभु आयो कौतुक ही पाथो धि बधायों कर गही पति भवन निजयानी बोली परम मनोहर बाणी चरण नाय सिरुवंचल रूपा सुनहु बचन प्रिय परिहरि को पाओ फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए नाथ बजरु के जयता हे सो बुद्धि बल सके जीत जाहि सो तुम ही रघुपति अंतर कैसा खलुख द्योत दिनकरहि सा अति कै प्रभ जहि मा सुत संघारे सुत संघारे जहि बलिबान्धे सहस भुज मायवतरे हरण महिभारा हे नाथ द्वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वराह और नृसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम जी से परशुराम जी रूप से सहस्त्रबाहु को मारा वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं तासु विरोधन की करम जीव जाके हा रामहि सौप जानके नाय कमल सुत कहुराज समर्पि बन जाय भजिय रघुना हे नाथ उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए